सेवा करते समय ऊंच नीच का भाव बिल्कुल नहीं लाना चाहिए अपने मन में सेवा करते समय हाँ मतलब सभी सारे स्वरूपों को और सारे स्वरूपों को इक्वल मानना चाहिए और कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए उसमें सेवा हाँ, मतलब सभी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं सभी भगवत स्वरूपों में कृष्ण ही विराज रहे हैं ऐसी भावना होनी चाहिए महाप्रभु जी द्वारा सेवित जो निधि स्वरूप है या गोसाई जी के ठाकुर जी हैं वो ऊंचे हैं हमारे घर में बिराजते ठाकुर जी नीचे हैं या जो परंपरा से पुराने भगवत स्वरूप है उनकी वैल्यू ज्यादा है नए बदले हुए भगवत स्वरूपों की वैल्यू कम है ऐसा कुछ भी हमारे मन में कभी भी आना नहीं चाहिए ये भगवत अपराध है क्योंकि ठाकुर जी के स्वरूप पे हम शंका कर रहे हैं ऐसा उसका तात्पर्य होता है इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए सभी ठाकुर जी एक समान है सभी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है ऐसी ही भावना हमारे मन में होनी चाहिए जी राजा हम्म। जी राजा ब्रह्मवाद अनुसार તત્વ દ્રષ્ટિએ તો બધું જ પરમાત્મક હોવાને કારણે તેમજ ભક્તના ઉદ્ધારની પ્રભુની વિશેષ ઈચ્છા ઈચ્છાથી પ્રભુ સ્વયં ભક્તના ઘરમાં સેવા સ્વરૂપે પધારતા હોવાની હોવાને કારણે પુષ્ટિ માર્ગીય બધા જ સેવા સ્વરૂપોને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ જ હોય છે મતલબ બ્રહ્મવાદ કે અનુસાર पूरा पूरी सृष्टि ही प्रभु प्रभु गिन्नी मतलब श्री कृष्ण ही है और भक्त की मतलब ठाकुर जी की इच्छा से वो भक्त के घर भक्त का उद्धार करने के लिए उनके घर में सेवा स्वरूप की तरह घर में पधार रहे हैं पधार रहे हैं और उस उन्हीं को ही मतलब पुष्टि मार्गी को उन्हीं को ही सेवा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम मान के उनकी सेवा करनी चाहिए हाँ मतलब जैसे हमने पहले देखा था ना कि कृष्ण भगवत स्वरूप में विराज रहे हैं उसके लिए हमें दो बात समझ में आती है एक तो ये कि पूरी दुनिया सब कुछ हर पद स्वरूप जितने भी रूप हैं जितनी भी दुनिया की चीज है जड़ हो चेतन नॉन लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ भगवान खुद बने इसलिए भगवत स्वरूप है वो भी भगवान उसमें भी है जैसे दुनिया में हर जगह है ऐसे उसमें भी है दूसरी इसमें स्पेशलिटी ये है कि जब हम गोसाई जी जो बताई हुई पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार की विधि करके और ठाकुर जी के भाव प्रतिष्ठा उस भगवत स्वरूप में करते हैं तो भक्त की भावना से ठाकुर जी उस भगवत स्वरूप में पधारते हैं इसलिए हमारे घर में जो बेरास्ते जो सेव स्वरूप है वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है उसी तरह जितने भी वैष्णव के घर विराज विरासते जो ठाकुर जी है सब कृष्ण है सब पूर्ण पुरुषोत्तम है ऐसी ही हमारी भावना होनी चाहिए उसमें कोई ऊंच नीच हमें नहीं सोचनी चाहिए जी आजा जी आजा हाँ નહીં પરંતુ ફરી કેટલાક સ્વાર્થી ઠગ ઉપદેશકો તેમજ તેવા જ કેટલાક અનુયાયી વૈષ્ણવો અનેકાનેક કલ્પિત કારણો શોધી કાઢીને સેવે સ્વરૂપમાં ઊંચ નીચ ભાવ કે ભેદભાવ ઉભા કરવાનો દૃષ્ટ પ્રયાસ કરતા હોય છે मतलब इसमें भी कितने ही स्वार्थी ठग उपदेशक उपदेश देने वाले और कितने अनुयायी और वैष्णव अपने मनगणित कारणों निकालते हैं और सेवे स्वरूप में ऊंच नीच का भाव ले आते हैं और उसका दुष्ट प्रयास करते हैं जैसे कि ये सेवे स्वरूप बड़े हैं और ये सेवे स्वरूप छोटे हैं ऐसे मतलब कल्पित कारणों लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं और ऐसा दुष्प्रयास करते हैं हाँ। ऊंच नीच का भाव पैदा करने के लिए हाँ तो मतलब ये एक तरह का भगवत अपराध है ठाकुर जी के स्वरूप में हम जब भेद करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए ये बहुत सारे लोगों की ऐसी भावना होती है और ऐसी गलत गलत चीजें प्रचारित भी करते हैं वो लोग जैसे एक प्रसंग देखो उसमें ऐसा आता है कि गुसाई जी के बेटे जी के प्रसंग में ही आता है कि एक बार गोसाई जी के तो बालकों ने ऐसा सोचा आगे शायद आएगी इसमें वो वार्ता कि वो लोगों ने ऐसा सोचा कि हम सभी ठाकुर जी को साथ में पधरा के और एक अन्नकूट का उत्सव करते हैं और ठाकुर जी को विशेष सामग्री वगैरह भोग धरते हैं तो उन्होंने ऐसा मनोरथ किया सभी ठाकुर जी को साथ में है तब गोसाई जी के जो बेटी जी हैं वो अपने घर में विरासत ठाकुर जी को छोड़ के और वो मनोरथ के दर्शन करने के लिए पधारे तो गुसाई जी क्रोधित हो गए और उनसे कहा कि अपने घर के ठाकुर जी को छोड़ के यहाँ क्यों आप आए हो तो उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई फिर घर गए तो उन्हें सातों स्वरूपों के मतलब सभी ठाकुर जियों के दर्शन अपने घर में ही अपने ठाकुर जी में हुए तो मतलब ठाकुर जी में कभी ऐसा हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि गोस्वामियों द्वारा सेवित ठाकुर जी बड़े हैं या महाप्रभु जी के द्वारा सेवा की हुई जो निधि स्वरूप है वो बड़े हैं चौरासी वैष्णव के ठाकुर जी उनके सेवित जो ठाकुर जी है वो कहीं कहीं वैष्णव के यहाँ गोस्वामी बालकों के वहां बिराजते हैं तो वो ठाकुर जी बड़े हैं ऐसी भावना हमारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए हमारे घर में से ठाकुर जी हैं हमारे सर्वस्व वो हैं हमें उनसे मतलब होना चाहिए हमें उनकी सेवा करनी है किसी और के ठाकुर जी में हमारा मन कभी भी नहीं जाना चाहिए इसलिए अपने घर में विरासत ठाकुर जी ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है ऐसी ही हमारी भावना होनी चाहिए और अगर हम ऐसा सोचते हैं अपने ठाकुर जी को छोड़ के किसी और के ठाकुर जी के में हमारा मन लगता है तो वो भगवत अपराध है ठाकुर जी उसे कभी माफ नहीं करते ये गलती है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हम्म। ठीक है तो आज का यहाँ रखते हैं आगे का जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को करते हैं परसों से तो वार्ता जिस क्रम होगा तीन दिन जी राजा जी राजा हाँ धन्यवाद राजा धन्यवाद हाँ